मनुष्य जीवन निश्चित रूप में व्रतों के ऊपर खड़ा रहता है प्रतिज्ञाओं के ऊपर खड़ा रहता है संकल्पों के ऊपर खड़ा रहता है जहां जहां व्रत नहीं होते प्रतिज्ञाएं नहीं होती संकल्प नहीं होते वहां वहां पर मनुष्य जीवन का जो ढांचा है वो लड़खड़ा जाता है मनुष्य मनुष्य नहीं रहता भौतिक वैज्ञानिकों की दृष्टि सोचिए कि कोई भी वस्तु पदार्थ अपनी स्थिति में कुछ नियमों से खड़ा रहता है अपनी अपना पोषण गुण है उसमें और प्रकाश भी है तो इस दृष्टि से देखो तो ये भौतिक पदार्थ इस ढंग से सोचो और चेतन व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र होता है उसमें दो विभाग हो जाते हैं एक ईश्वर और एक जीवात्मा उनकी स्थिति है स्वतंत्र सोचने का ढंग पद्धति परिवर्तन चेतनों की स्थिति है ईश्वर के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता उसको कोई नए नियम नहीं बनाने पड़ते ईश्वर सदा ही नियमबद्ध रहता है कभी ईश्वर ने नियमों को नवीन रूप से धारण नहीं किया कि आज मैं ये व्रत लेता हूं कि मैं सत्य ही बोलूंगा न्याय ही करूंगा ऐसा संकल्प ऐसी प्रतिज्ञा ईश्वर ने कभी नहीं की अनादिकाल के ईश्वर व्रतों में बना हुआ जो का तो अपरिवर्तनीय है कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए वेद मंत्र में एक बात कही प्रतपते तो व्रतपति का अर्थ है जो व्रतों का पालन करता है वह व्रतपति है व्रतपति व्रतम चरिश्याम भांति भांति व्रतों का पालन करूंगा जो व्यक्ति संस्कृत भाषा नहीं जानती उसमें शक्ति नहीं रखती नहीं समझती तो उनको सारा का सारा परोक्ष पोट में दिखाई देता इसलिए बुद्धिमान भारत के निवासी कहते रहते हैं कि भारत देश के रहने वालों में भारतीयों को तो संस्कृत आनी ही चाहिए में अग्नि और अग्नि शब्द का अर्थ है अग्रणी क्या समझ में आया में प्रसिद्ध बात है कि अच्छे कार्यकर्ता को लोग कहते हैं ये हमारा अग्रणी है अग्रणी आगे ले चलने वाला है मार्ग दिखाने वाला है इसलिए उसको अग्रणी बोलते हैं अग्नि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार राजा भी होता है अग्नि शब्द का अर्थ चूल्हे की अग्नि भी होती है अनेक हो सकते हैं पर इस प्रकरण में अग्नि नाम ईश्वर का है अग्रणी व्रतपदे आप वर्षों का आचरण करने वाले हैं और व्रतम तनिश्याम मैं भी वर्षों का अनुष्ठान करूंगा वो प्रतिज्ञा करता है संकल्प करता है अग्नि संबोधन हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर है हे अग्रणी ईश्वर है हे ले चलने वाले ईश्वर है व्रतपते आप व्रतों का सदा इसी काल के पालन करते हैं आपके नियम भंग नहीं होते व्रतम चरिष्यामी मैं भी व्रतों का आचरण अनुष्ठान करूंगा फिर तत्केयम तत् उसको सकेयम मत कर सकूं ये प्रार्थना उन व्रतों के परिपूर्ण रूप में पालन करना चाहे हम तो ईश्वर की सहायता के बिना उनका पालन नहीं होता कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण सत्यवादी बनना चाहता है तो बिना ईश्वर की सहायता के बिना वो सत्यवादी नहीं बन पाता कोई व्यक्ति मन इंद्रियों पर विजयी होना चाहता है अधिकार रखना ईश्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकती इसलिए ईश्वर की सहायता रहती ही रहती है व्यापक रूप से इसे सहायता करता है और विशेष आचरण करने वाले की विशेष सहायता करता है जी रहे हैं हम सभी जी रहे हैं चोर भी जी रहे हैं वो भी ये भी भेड़िया भी सांप भी सभी जी रहे हैं जीवन व्यतीत कर रहे हैं ईश्वर की सहायता नहीं कर बिना ईश्वर की सहायता के ना कोई व्यक्ति एक सेकंड मिनट नहीं जी सकता हमारा ईश्वर के साथ इतना गंभीर संबंध है और फिर रहेगी बात विशेष विशेष बात यह होती है जो व्यक्ति विशेष परिश्रम करता है विशेष अनुष्ठान करता है विशेष ईश्वर के नियमों का पालन करता है ईश्वर उसको विशेष सहायता देता है तो सच अच्छे के लिए मंथन मेरा देता हूं हे ईश्वर मैं उसको कर सकूं उसको सिद्ध कर एक बात याद रखनी पड़ती है कई बार व्यक्ति ये नहीं जान पाता ईश्वर सहायता के लिए करता के विद्वानों को छोड़ दो दूसरे सब धर्म आए लोग प्राय ये नहीं जानते हैं ईश्वर सहायता ऐसा कैसे करता है किसी को याद हम्म? ईश्वर सहायता ऐसा कैसे करता है उसके पास कुछ रुपये पैसे भी होंगे एक चोर ने उसको घेर लिया और घेरने जैसे लगा उसको लूटने की कोशिश की एक सांप निकल के आया उसको काट गया चोर को वो हो गया ये उसी में और वो अपने चला गया जो यात्री जो था उसने कहा ऐसे रक्षा करता है आपको कैसा लगता है हाँ। तो रात्रि में किवाड़ खुले रह गए और वे तो गए ही थे अलमारी में सोना का नहीं पर्याप्त था भूल से रह गए और क्या हुआ कि जैसे चोर घर के आसपास आए तो जब कुत्ता फूट पड़ा तो कुत्ते को भुकाया ईश्वर ने और उसकी तो प्रवृत्ति ऐसी है किसी नया आदमी देखा तो भुगना शुरू कर देता है ईश्वर को भुगाने की नहीं ईश्वर को प्रेरणा दी ना तुम <laughs> हो जो उनको पता जो भाई का पता चलेगा स्वभाव दो चार वर्ष का और चलते चलते बस चलने लगी वो गिर गया चोट चोट कुछ भी नहीं लगी उसने कहा दीदी क्यों नहीं लगी उनका इस तरह ठीक है अपनी गलती दो बसों की टक्कर होगी कार की बस की टक्कर होगी और वही कुछ को चोट लग गई और किसी का हाथ पर भी टूट गया कुछ बिल्कुल बाल बाल बच गई समझ क्यों मुझे बार बार ईश्वर ने ईश्वर ने सहायता मनुष्य के जो काम है उनका फल ईश्वर कुछ तो इस जन्म में देता है तो कुछ पगड़े जन्म में देता है तो एक प्रकार से जो जिनको दंड मिला जिनको चोट मिले उनको दंड मिला उनको तो प्रेरणा मिलती है हाँ, तो आपके हिसाब से समझ तो मतलब है कि वो तक कर्म मतलब जो कुछ मर गए वो परिश्रम ने दे दिया <laughs> तो यही बात नहीं सकता दो तीन व्यक्ति कुएं में कूद गए दो के सर कूद के डूब गए डूबा डूबा गाड़ी सब सहायता की लापरवाही की इतना टूट गई और सही सीमाओं पर दो जो धालट पड़े इन मेरे देशों के और गोलियां भी चली खूब चली और एक को गोली लगी ही नहीं वही सुन सहायता की अहमदाबाद में विमान गिर गया था हाँ एक सौ सत्ताईस अट्ठाईस बस्ती थे हाँ एक ही वजह अच्छा तो उसकी सुरक्षा की <laughs> भ्रष्टों की दंड दे दिया तो ये जितने मन उदाहरण दिए ईश्वर की सहायता बिल्कुल नहीं है ये लोगों का दिमाग ठीक काम नहीं करता इसलिए ईश्वर की सहायता समझते हैं ये सब देश की बात है इनको समझ में नहीं आता ईश्वर कैसे सहायता करता है उसको यदि हम समझ लेते हैं तो जो व्यापक रूप से हमारा जीवन चल रहा है पूरा विश्व जी रहा है वो व्यापक रूप से समान रूप से ईश्वर की सहायता का सबको उपलब्ध है सब जी रहे हैं ईश्वर की सहायता से जी रहे हैं अन्यथा जी जी सकते ये सामान्य नहीं है और एक होती है विशिष्ट कर्म करता है व्यक्ति और विशिष्ट कर्म के साथ साथ ईश्वर को सीधा सहयोग देता है उसमें अंतर पड़ता है एक व्यक्ति ने 20 वर्ष तक परिश्रम किया योगाभ्यास किया यम नियम का पालन किया लंबे काल तक आसन में बैठा फिर भी वो मन को अधिकार में नहीं कर सका बहुत परिश्रम उसके पीछे बनने मन शिव संकल्प मंत्र को पाठ करता और परिश्रम करता और मान मांगता हे ईश्वर मुझे बुद्धि दो ज्ञान दो उत्साह दो मुझको भस्म कर सकते वो ईश्वर फिर उसको सीधा ज्ञान देता है ये विशेष सहायता है ईश्वर की अंतर्यामी रूप जीवात्मा ने बहुत परिश्रम किया पर्याप्त परिश्रम किया और वो चाहता था मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर लू पर अपनी शक्ति सामर्थ्य से ईश्वर का साक्षात्कार जीवात्मा नहीं कर पाया फिर वो पात्र बना ईश्वर के लिए कि जैसे मैं पात्र बन गया उस काल में ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया और ज्ञान से उसकी समाधि लगवाई और अपना स्वरूप दिखा दिया ये विशिष्ट सहायता ईश्वर की ये सबको नहीं मिलती ये सहायता तो इसलिए उचित रूप में देखना है तत्म तन मेरा देता यहां तक पहुंच गया उसको मैं कर सकूं हे ईश्वर कोई की करवाई इदम अहम अंदरिता सत्यम भी इदम अहम मैं ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति अंदरिता झूठ को छोड़ता हूं और सत्य पर आरूढ़ होता हूं ये मेरा वर्ग है ये मेरा संचालन है आपने वर्ग पत्र पढ़े होंगे लिखा भी होगा जो जो आप अच्छी तरह से सोच कर उनके बच्चों को लेकर चलेंगे उनका पालन करेंगे ईश्वर आपकी सहायता करेगा और आप सफल होते रहेंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाहर की बात छोड़िए पहले हम यहां से चलते हैं क्या आप अपने घरों में केवल परिवार तक सीमित क्या सदा सत्य बोल लेते हो कितने लोगों का आशा पर है कि जो घर में कभी भी झूठ नहीं बोलते आप खड़ा करके बताएंगे वैसे ही खड़ा करेंगे एक दो तीन अब आप कितने कमजोर हैं कितना बड़ा दोष है जो व्यक्ति परिवार में सत्य नहीं बोल सकता वो किसी काम का व्यक्ति है जो सत्य बोलते हैं परिवार जो व्यक्ति परिवार में भी सत्य नहीं बोल सकता वो किसी काम का व्यक्ति बात की बात तो आगे की बात है तो आप परिवार से चलो कम से कम परिवार का तो पक्का संकल्प ले लो ये परिवार में हम झूठ ने बोलेंगे नहीं लिखेंगे और आगे रही समाज की बात उसको आगे देखते चलेंगे जब परिवार में सफल हो जाएंगे आप समाज में भी सफल हो जाएंगे फिर बड़े राष्ट्र क्षेत्र में फिर विश्व में भी सफल हो सकते हैं अच्छा मैं पूछना चाहता हूं कौन से व्यक्ति यहां पर जो घर पर पारिवारिक जनों में न झूठ बोलेंगे न लिखेंगे न मानेंगे सदा सत्य ही बोलेंगे लिखेंगे और मानेंगे वो अपना बताइए कौन कौन अब हाँ, कुछ है अच्छा जो नहीं बात आपको बताऊं जो वर्ग लिए वो ये मानते हैं सारा का सारा आपके झूठ के बराबर जाके है लाभ क्या हो जिस लाभ को दृष्टि में रखे व्यक्ति झूठ बोलता है वो लाभ होता ही कभी नहीं उसको भ्रांति है उसके दिमाग में इसका परीक्षण उस समय होता है जब बड़ी गंभीर समस्या आती है कहीं लाखों की संपत्ति जा रही हो आत्म संबंधी कोई ऐसा विश्वास हो गया हो वहां पर पता चलेगा आपको वैसे पता नहीं चलती एक सच्ची घटना सुनाता हूं पढ़े लिखे दोनों पति पत्नी थे उनको बुला के उपदेश दिया गया और ये बात पूछी गई कि आप दोनों जगह बताओ कि कभी आपस में जो है कभी झगड़ा तो नहीं करते झगड़ा भी ऐसा ही घरों में पराए सभी झगड़ते आपने में से कोई ऐसा व्यक्ति तो झगड़ता में अच्छा घरों में झगड़ते जो हमारे देवेंद्र जी है एक युवक तो मैंने कम से कम मतलब हाँ। हाँ। तो उसमें उनसे मैंने पूछा कि आप पति पत्नी कभी झगड़ तो नहीं है हाँ। तो उसमें उसमें उन्होंने बताया कि बात ऐसी है कि ग्यारह वर्ष हो गए विवाह संस्कार हुए ग्यारह से लगातार लड़ाई करी उनका काल उनका काल पति ने कहा ये मेरी पत्नी है प्रोफेसर पढ़ाती है और उपदेश के लिए चली जाती है और उसने सच्ची बात कही जैसे उसके दिमाग में बैठी हुई थी और वो कहने लगे झगड़ा इस बात के ऊपर होता है कि मेरा इसके आचरण पर विश्वास नहीं आतंकी की और वो कहती है नहीं आतंक लेना बिल्कुल शुद्ध है कहता कि मैं इसकी बात इसलिए नहीं मानता कि झूठ बोलती है बात भाई बोल देखिए आप देख लेना उसके आतंक का संदेह हो गया अच्छा संदेह हुआ तो बस सौ बार की भी सच्ची बात बोले तो भी झूठ बोलने वाले की वह भी झूठ ही हो जाती है रिश्ते का मूल्य क्या है और दूसरी हानि कैसे होती है दो भाई चार भाई आपस में लाखों का व्यापार करते करते जेब कट गई या वहां से यहां निकल गया धन तो तीन चार लाख रुपये निकल गया और वो आपस में भाई भाई को भी झूठ भी बोल लेते हैं अब वो तीन चार भाई होंगे उससे जिससे भरोसा कट के चला गया है चुराया गया है वो कहेगा ये तो चुराया गया है वो वो कहेंगे हम तो मानने के लिए तैयार नहीं क्यों क्योंकि आप झूठ बोलते हैं है हाँ, तो आपकी भूमिक होती है तो आप आप देखेंगे वो परिणाम उस समय समय को आता है सत्य बोलने का कितना बड़ा झूठ बोलने की कितनी बड़ी हानि होती है व्यक्ति का निर्वाण ही समाप्त हो जाता है सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमारा विरोधी भी क्यों न हो अर्थात शत्रु के ऊपर भी सत्य बोलने वाले का प्रभाव पड़ता है झूठ बोलने वाले का प्रभाव सत्य बोलते हुए भी मित्र को भी अच्छा नहीं पड़ता जिस व्यक्ति का विश्वास बिना गया वो जीता नहीं वो मर गया मरा मृत व्यक्ति है वो ये हम रामायण की वो चौपाई का भाग्या सुनते हैं रघुकुल रीति सकता था बात आज बड़े से बड़े विद्वान का चरित्र इतना ऊंचा नहीं मिलेगा राजाओं का चरित्र कितना ऊंचा हरिश्चंद्र की कितनी प्रसिद्धि है सब कुछ खत्म हो सकता है हरिश्चंद्र <laughs> जो है वो युद्ध बोलने के जैसे आदमी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपको कैसे लगते हैं लगते हैं फिर आप ये निकाल के समझ काम <laughs> समस्या में बात ऐसी है एकदम विज्ञानकार वो था हम व्यापक थे पढ़ने वाले भी थे मैंने बैरागी की तीव्र बातें सुनाई उनका स्वामी जी बात आपकी बहुत अच्छी लगती है ये बैरागी में मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे बैरागी में हो जाए <laughs> ये जो लोग की है अच्छा कहते हैं ये बहुत अच्छा की ओर रोगी होगी वैसे उसको औषधि देता है और दवाई फूक दे देता है तय लगा देता है और वो उसमें कहीं टूट देता है इसी हल्की सारा सुना सुनाया बेकार आप समझ रखिए एक ही व्रत आप ले भी चलते हैं और उस व्रत के साथ दूसरे व्रतों का संबंध रहता है सभी अच्छे कामों के साथ एक व्रत का संबंध रहता है सभी बुरे लोगों के साथ एक बुराई का संबंध रहता है जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो सारी बुराई कर सकता है इसलिए किसी कहते हैं न सत्यात पर्व धर्म है नाम निकाल पास संपर्क सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है दुनिया के अंदर अब अनवीर से बढ़ के कोई पाप नहीं है हमको महर्षि दान सरस्वती जी इतने अच्छे क्यों लगते हैं मुझे इतने अच्छे क्यों लगते उनकी पुस्तकों को पढ़ते उनके चरित्र को देखते एक एक पंक्ति पर ध्यान देते और मैं ज्ञान सरस्वती जी ऐसे देखते हैं ये यद्यपि अपज्य है व्यक्ति यह अलग बात है ये सर्वज्ञ कोई नहीं होता ऋषि होने पर भी कोई सर्वज्ञ नहीं होता पर ज्ञानपूर्वक लिखना ज्ञानपूर्वक बोलना ये उनके जीवन में नहीं दिखता जब उनकी पुस्तकों मात्र सत्य के विषय में पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें सच्चाई कूट कूट के भरी हुई है और उन ग्रंथों का हमारे पर इतना प्रभाव पड़ता है कि एक एक पंक्ति हमारे लिए पत्र की इतना विश्वास उत्पन्न करता है आप संकल्प लेके चलिए व्रत लेके चलिए और आप महान बन जाए आज ये सोचो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हमको क्या क्या संकल्प करें अपने परिवार को ऊंचा बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए अपने समाज को ऊंचा बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए भारत देश को ऊंचा उठाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है विश्व को वैदिक धर्म की ओर मोड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को काम करना ही पड़ता व्यक्तिगत जीवन ऊंचा बनाना व्यक्ति का एक कर्तव्य है परिवार को भान बनाना ये व्यक्ति का दूसरा क्षेत्र है समाज को ऊंचा बनाना ये तीसरा क्षेत्र है बड़े भारतीय क्षेत्र को ऊंचा बनाना इस देश को ये चौथा क्षेत्र है पूरे विश्व को आर्य बनाना ये पांचवा क्षेत्र है जो लोग ईश्वर को नहीं समझते वेदों को नहीं समझते वही बात को लेकर के किरणों में शुमारियम वो कहने के लिए तैयार नहीं विदेशों की हालत देख लेना ये आदर्श वेदों में है ये आदर्श दर्शनों में है ये आदर्श उपनिषदों में है ग्रंथों में मिलेगा कि यहां तक उनके कितना ऊंचा चरित्र है सारे विश्व को वो महान बनाना चाहते हैं वो ये नहीं कहते कि हम केवल भारत को ही ऊंचा बनाना चाहते स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार प्रकाश में लिखा उसका भाव सुनाता हूं मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूं अपने भारत में और रहता हूं और जैसे इस देश की उन्नति चाहता हूं उसके दोषों का खंडन करता हूं ऐसे विदेशियों की वैसे उन्नति चाहता हूं उनके दोषों का निराकरण करता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए आज ये लाखों विद्वान वैज्ञानिक धर्म के गुरु यदि इनकी ये व्यक्ति बन जाए तो हजार झगड़े समाप्त झगड़ों का मूल बुद्धिमान वैज्ञानिक उपदेशक सन्यासी बड़े बड़े नेता हैं सारे झगड़े से पैदा हो सबको एक दृष्टि से नहीं देखते सबकी एक जैसी उन्नति नहीं चाहते हो सभी देशों के लोग दूसरे देश जैसी उन्नति नहीं चाहते सारा लोग वहीं पर है इसलिए स्वामी नारायण सरस्वती ने एक नियम और बनाया नौवा प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए ऐसा कितना कितना सुंदर नियम है प्रत्येक व्यक्ति किसी भी भाग में घर में मेरी उन्नति सबकी उन्नति है और मेरे मेरा नीचे गिरना सबका गिरना है दूसरे की उन्नति मेरी उन्नति है दूसरे नीचे गिरते हैं तो मैं गिरता हूं उसको ऐसा दर्द होता ये संकल्प करने वाले व्यक्ति ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जिसका संकल्प ही है उसको तो केवल स्वाद से मतलब है आज आपके भारत की स्थिति आप देखेंगे ना किसी भी भाग में चले जाइए आप एक आध व्यक्ति को छोड़ दीजिए आप जितने भी बड़े बड़े हैं विभाग उनमें सब लोग रिश्वत चोरी डाके जो कुछ कहते चले जाइए सारे उपाय लागू होते हैं और किसी का संकल्प नहीं किसी का व्रत नहीं मैं रिश्वत नहीं लूंगा किसी का व्रत नहीं मैं मिलावट नहीं करूंगा किसी का व्रत नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा उनके सारे व्रत खुले ये पतन भारत का हुआ है और भारत का पतन और होता जाता है भारत के अंदर जो हम रहते हैं खाते पीते हैं इसमें फंसते हैं हमारे मन में इतने लोगों के मन में ये भावना है कि मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूं इस देश का अन्न खाता हूं इस देश की हानि नहीं सहन कर सकता इस देश को कोई नुकसान करेगा तो मैं उसका सहन नहीं करूंगा मैं के फेंक दूंगा आप लाख में से एक व्यक्ति को ढूंढ पाए काम की भावना मृत हृदय प्रकृति में बिल्कुल महादोष आ गया ध्यान देना जहां इसे सोचा जाता है जहां इसे माना जाता है जहां ऐसे लोग रहते हैं उनमें केवल दूसरे से छीनना और अपना पेट भर लेना दूसरा दूसरे से छीनता है अपने पेट भर लेता है आपने देखा होगा कुछ तीन चार खड़े हैं एक एक दो रोटी डाल दो देखा हो पगड़े से होता है कुछ बीच का होता है एक एक रोटी डालने पर भी अपनी रोटी को छोड़ के उस पर दूध मारता है देखा नहीं आपने भले इसकी रोटी को दूसरा खा जाए कुत्ता उसको उसके पर आक्रमण करेगा उस जो दूसरे पर और आगे पर चलता रहेगा जब तक उसको दबा के खूब गुजर नहीं देगा तब तक फिर रोटी खाएगा फिर अपनी सोच पाएगा पशुओं और उसमें कोई अंतर नहीं